ये जो पार्टियां हैं ना बीजेपी कांग्रेस जनता दल सीपीएम सीपीआई सब खत्म हो गई क्योंकि इन सबके नेता अमेरिका के दुम छल्ले हो गए हमने हर राजनीतिक पार्टी का शासन पिछले 10-12 साल में देखा है सब अमेरिका से डरते हैं सब डरते हैं क्या बीजेपी वाले क्या कांग्रेस वाले क्या जनता दल क्या सीपीएम पहले सीपीएम सीपीआई वाले चिल्लाते थे कि हम अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं अभी बंगाल में दो तीन महीने से जो हो रहा है वो हमारी आंखें खोलने के लिए है कि बंगाल का मुख्यमंत्री अमरीका के साथ है किसानों के खिलाफ नंदीग्राम की जमीन जबरदस्ती छीनकर वो अमेरिका की कंपनी को बेच रहा है